त्रयोदश मंत्र सत्वग्नि अग्नि स्वर्गम सर्ग मध्येसि मृत्यु प्रवृहितं सद्दधानाय मह्यं भजंत एक एतद्वितीयेन वृणे वरेण हे मृत्यु संबोधन सत्वम स्वर्गम अग्निम अध्येसि जानते हो स्मरसी जानते हो स्मरसी एक स्मरण सर्गम सर्गाहितम अग्निम अग्निम स्वर्ग प्राप्ति साधन अग्नि विद्या आप जानते हो अध्यक्ष स्मरसी तम सदमयम श्रद्धानाय ब्रूहि प्रब्रूहि वही स्वर्ग साधन अग्नि विद्या में श्रद्धालु मुझे कहिए स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत स्वर्ग लोको ये शांत स्वर्गलोक है यजमान अमृतत्व को प्राप्त करते हैं आपेक्षिक अमृतत्व है और देवत्व को प्राप्त करते देवता हो जाते हैं एतद द्वितीय वर्ण वृणे द्वितीय वर्ष में आग्रह एवं गुण विशिष्ट से स्वर्गलोकस्य पूर्व श्लोक मंत्र में स्वर्गलोक विषय में कहा गया था स्वर्ग का स्वरूप ऐसा जो गुण विशिष्ट स्वर्गलोक जहाँ रोग आदि भय नहीं यमराज से भय नहीं और क्षित पिपासा आदि नहीं प्रसन्न सुख रह सुख से रहते ऐसा जो स्वर्ग लोक एवं गुण विशिष्ट से स्वर्गलोक से प्राप्ति साधन भूतम स्वर्गम स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूतम अग्निम स्वर्गम च त्वम यही स्वर्ग प्राप्ति का साधन अग्नि को आप जानते हो तो मृत्युर अध्येसी तम का अर्थ मृत्यु अध्यसी अर्थ स्मरसी स्मरण करते अर्थात जानते हो जाना सी अर्थ हे मृत्यु संबोधन मृत्यु है यत यतस्तम प्रब्रूहि जब जानते इसलिए मुझे ब्रूहि प्रकर्षण ब्रूहि कहिए शब्दधानाय मह्यम श्रद्धालु श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थी ने इस स्वर्ग साधन जानना चाहता हूँ स्वर्गार्थी मुझे श्रद्धालु के कहिए ये न अग्निना चेतेन स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते अग्नि चयन करने पर स्वर्गलोका स्वर्गलोक येषां ते स्वर्गलोका जिस स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं लोक्यन्ते लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते स्वर्ग सुखम यत्र ते लोका स्वर्गे लोक जिनका वो यजमाना अमृतत्वम भजन्ते अमृतत्व का था अमरणत्वम अमरणत्व का अर्थ अपेक्षिक है देवत्वम भजन्ते देवत्व को प्राप्त करते हैं भजन्ते का अर्थ प्राप्नुवन्ति तदेतत अग्नि विज्ञानम द्वितीयन वर्ण वृणे ये अग्नि विज्ञान अब स्वर्ग प्राप्ति साधना द्वितीय वर्ष से मांगता हूँ ये मांगने से तुरंत यमराज क्योंकि वर प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञा करने से कहते ही तुरंत वर देते थे जो मांगते हैं कहते ही तथास्तु प्रते तदुमे निबोध सर्गम अग्ने नचिकेतः प्रजानन् अनंतो लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायां प्रतिब्रवीमि ते प्रब्रवीमि व्यवहिताश्च छंद में व्यवहित होता है प्रब्रवीमि प्रकर्षण ब्रवीमि ते का तदु में निबोध वो मेरे से सुन सुन करके समझो मैं मम वाक्यात निबोध समझो स्वर्गम अग्निम अग्नि विज्ञान स्वर्ग साधन नचि हे नचिकेत प्रजानन जानता मैं कहूँगा अनंत लोग आप्तिम अथ प्रतिष्ठान अनंत लोक की प्राप्ति जिससे होती है अग्नि का विशेषण अनंत लोक से प्राप्ति येन अग्निना अथ प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा भी अग्नि की जगत की प्रतिष्ठा विराट रूप से अग्नि है विद्धि त्वम एतम गुहायाम नेतम ये अग्नि को समझे ये बुद्धि रूप गुहा में स्थित है जो विराट अग्नि है समष्टि बुद्धि रूप गुहा में स्थित है मृत्यु प्रतिज्ञा यम मृत्यु प्रतिज्ञा यम यम च वक्षमाना मृत्यु प्रतिविज्ञा अवगंतव्या यह भी प्रतिज्ञा है मैं कहूंगा कह रहा हूं बोल रहा हूं सुनो आगे भी है यम च वक्षमाना मृत्यु यम का तो वक्षमाना यम अभी तक कहे नहीं मृत्यु प्रतिज्ञा यम यम शब्द का तो वक्षमाना जो अभी कह कहेंगे मृत्यु की प्रतिज्ञा समझनी चाहिए प्रते ते का तो तुभ्यम प्रब्रवीमि प्र का अन्वय करने के लिए प्रब्रवीमि यस्तया प्रार्थितम तदु मम वचसो निबोध उकाथ यद यद इत्यर्थे यत्वया प्रार्थितम यत्वया प्रार्थितम तद उ उ उकाथ यद जो तदु निबोध उ का जो तुमने मांगा तद निबोध ब्रवीमि यत्वया प्रार्थितम तदु मे मम वचसो निबोध उ शब्द का अर्थ यद इसलिए यत्वया प्रार्थितम इसका अर्थ किया तत्प्रब्रवीमि यत्वया प्रार्थितम तत्प्रब्रवीमि वो का अर्थ यद जो तुमने मांगा मैं का था मम वचसो निबोध मेरे शब्द से समझो बुद्धिस्व समझ का अर्थ क्या है ज्ञान के लिए तो विधि नहीं होता है विधि नहीं होती तो उसका साधन एकाग्र मनः सन एकाग्र मन होते हुए सुनो तो ज्ञान होगा एकाग्रम मनो यस्य स एकाग्र मना एकम अग्रम यस्य एकाग्रम एक ही अग्र है एकाग्र होता है व्यग्र इधर उधर इधर उधर तो व्यग्र हो गया विरुद्धम अग्रम नाना आग्रह हो जाएगा एक ही अग्र होता है तो एकाग्र एक ही जिसका चिंतन उसी का ही चिंतन इधर उधर नहीं एकाग्रता का ही अर्थ है अग्र उसका एक है एक को चिंतन करेगा इधर उधर नहीं एकाग्रता एकाग्र मन होकर श्रवण सुनो तभी ज्ञान समझ में आएगा स्वर्गम का था स्वर्गाहितम स्वर्ग का हित का था स्वर्ग साधनम स्वर्ग हित स्वर्ग साधन अग्निम हे नचिकेत प्रजानन जानता हुआ जानते मैं कहूँगा विज्ञातवान अहम सन जानता मैं कहूँगा प्रब्रवीमि तन्निबोधयति च शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सुनो समझो ये किस लिए कहते हैं शिष्य बुद्धि समाधानार्थम शिष्य की बुद्धि समाधान एकाग्र करने के लिए तो बुद्धि में से ग्रहण होगा नहीं तो कुछ उपदेश करने लगे शिष्य कुछ दूसरा सोचता है पुस्तक ढूंढता है क्या कहीं लिखा है बोलते समय कोई कोई पुस्तक ढूंढते नहीं तो कुछ अन्य सोचते रहते हैं तो समझ नहीं आएगा इसे यमराज कहते हैं प्रभ्रमिमि तन्निबोध शिष्य बुद्धि समाधान के लिए अभी जो कहेंगे अग्नि उसकी स्तुति करते हैं थोड़े से अग्नि इतने उत्कर्ष समझने पर और एकाग्र होकर सुनेंगे नहीं तो सजा अग्नि तो हम जानते देखते अग्नि के लिए क्या समझना है अग्नि को मालूम नहीं अग्नि देखा नहीं क्या ये अग्नि है उसमें थोड़ा कुछ करना होगा क्या इसमें समझना इसलिए तधना अग्नि स्तौति खाली सामान्य अग्नि नहीं अनंत आप्तिम अनंत लोक की प्राप्ति का साधन है स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधन मिते तत् यहाँ जैसे जल्दी मर जाते हैं स्वर्ग में ऐसा नहीं देवत्व प्राप्त होने पर दीर्घ काल रहते हैं इसलिए कहा अनंत लोक अनंत लोक की प्राप्ति अनंत लोक शब्द स्वर्ग लोक अंत नहीं होता ये बात नहीं दीर्घ काल रहने से आपेक्षिक अनंत कहा गया शीघ्र अंत नहीं होता है यहाँ जैसे जल्दी मर जाते ऐसा नहीं स्वर्गोलोक फल प्राप्ति साधनम अग्नि यदन अथो अपि प्रतिष्ठा आश्रय जगत की प्रतिष्ठा है जगत की प्रतिष्ठा अग्नि है विराट रूपेण तम एतम अग्निम विराट रूप से यह प्रतिष्ठा है सारे जगत की मैं उच्यमानम विद्धि विधि का अर्थ जान ही समझो तुम समझो निहितम गुहायाम नितम का तो तितम निपूर्व स्थापने स्थित है गुहायाम का तो बुद्धो बुद्धि विदुषाम बुद्धो निविष्टम बुद्धि में स्थित है टीका में सत्रेधा आत्मा व्यकृत अपने को तीन भाग कर दिया आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम ऐसे दिया है वायु तृतीयम आदित्य तृतीयम इसके अग्नि तृतीय हो जाएगा एक कुछ अन्य के अपेक्षा तृतीय है तीन है तीन में तृतीय कौन होगा कोई हो सकता है दोनों का नाम लेते तृतीय हो जाएगा आदित्यम तृतीय का अग्नि वायु के अपेक्षा आदित्य तृतीय है और अग्नि आदित्य के अपेक्षा वायु तृतीय इसी प्रकार तीन भाग सत्य आत्मा व्यकृत करे अग्नि वही प्रजापति स्वयं अग्नि रूप है इति श्रुतेर अग्नि वायु आदित्य रूपेण समष्टि रूप विराट एव व्यवस्थित अग्नि वायु आदित्य रूप से विराट ही स्थित है समष्टि रूप विराट विराटे समष्टि स्थूल अभिमानी समष्टि व्यष्टि स्थूल अभिमानी विश्व होता है अग्नि वायु आदित्य रूप से विराट ही व्यवस्थित है इति तेन विराट रूपेण अग्नि जगत प्रतिष्ठित उच्यते अग्नि जगत की प्रतिष्ठा है अग्नि किस रूप से स्थित है विराट रूप से आगे श्रुति मंत्र है ये श्रुति का वाक्य है ना तो यमराज का ना तो क्या शिष्य का लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा सचापि मथा मथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्ट लोकादिम अग्निम तम तस्मै उवाच जो लोक की आदि है अग्नि है विराट लोक आदि जो अग्नि है तस्मै नचिकेता से उवाच यमराज ने नचिकेता को कहा या इष्टका यावतिर्वा यथावा अग्नि चयन कर्म करते समय जो इष्टका है ईटी ईट आदि रख करके बन, बनाते हैं द्रोणरथ द्रोणरथ चक्र सेना आदि अलग अलग रूप अग्नि इष्ट का रखना पड़ता है रखने के लिए विभिन्न चित्र जैसे हो जाता है यावत पिरवा यथावा यावती जितने संख्या के और यथावा जिस प्रकार ईट ईट के भी अलग अलग प्रकार बनाते हैं जिस प्रकार से जाकर रखना है ये भी सब कहा जैसे सब उपदेश करते हैं यहाँ तो क्या क्या उपदेश किया तो कर्म प्रकरण देखना चयन अग्नि चयन प्रकरण में यहाँ श्रुति कह देती केवल ऐसे ही यमराज ने उसको उपदेश किया पूरा पूरा अग्नि विज्ञान कर्म कैसे करना अग्नि चयन करना कैसे उपासना करना पूरा पूरा कहा वो अग्नि प्रकरण चयन प्रकरण में है श्रुति यहाँ कदम केवल बता देती ऐसे उसने यमराज ने कहा कहने के बाद सचा भी तत्प्रत्यवधत यथोक्तम शिष्य का है सुनने के बाद गुरु से ग्रहण करके फिर उसको तैयार करके बोले सचा भी तत्प्रत्यवदत यथोक्तम प्रत्यवदत उसके उत्तर दे दिया जैसे जैसे कहा ऐसे बता दिया अजय ऐसे सुन करके कह देता है तो वो आचार्य खुश हो जाते हैं वो खुश होकर अथा से मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट तो मृत्यु इसके वचन से फिर तुष्ट प्रसन्न होकर कहा तीन व्रत मांगने के लिए कहा था तीन वर देना है किंतु ये देखा ये अग्नि विद्या कहने पर तुरंत ठीक-ठीक बता दिया तो प्रसन्न होकर और एक वर अपने आप दे देते हैं यमराज खुश होकर के इदम श्रुतेर वचनम टीका में सप्रपंचम अग्नि ज्ञानम चयन प्रकरणा दृष्टव्यमिति श्रुति रसमान बोधेति त्याह विस्तार के साथ अग्नि विज्ञान चयन प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है कात्यायन आदि महर्षि पुक्त सूत्र सूत्र आदि उसमें सब कहा गया है वहां समझ लेना यहाँ श्रुति अस्मान बोधयति श्रुति यहाँ बता देती ऐसे अग्नि का उपदेश उन्होंने किया यहाँ तो ज्ञान प्रकरण है इसलिए कर्म प्रकरण का विस्तार नहीं है यहाँ अग्नि कर्म प्रकरण चयन प्रकरण सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वहाँ से समझ लाने जिनको चाहिए यहाँ श्रुति कह देती है अस्मान बोधयति इदम श्रुतेर वचनम लोकादिम लोकानाम आदि लोकादि लोक के आदि प्रथम शरीरत्वाद प्रथम शरीर है शरीर वाला शरीरी प्रथम शरीर हुआ विराट शरीर स्थूल शरीर अग्नि है शांतस्य तप्तस्य तेजो रस निरवर्तत अग्नि ऐसा बृहदारण्य की माया ऐसे चिंतन करके सृष्टि कैसे करने के लिए परमात्मा ने चिंतन किया तो उसमें चिंतन कर तप तप किया सो तपो तप्यत तप्त होने पर शांत थक गया तेज रूप सार सार निकला हुआ अग्नि है अग्नि सो विराट है प्रजापति प्रथम ज कार्य करण संघात वाला शरीर कार्य करण इंद्र संघात वाला विराट पहले हुआ सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते आदि कर्ता सबभूतानां ब्रह्माग्र समवर्तत ऐसे कहा गया प्रथम शरीर विराट स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी समष्टि स्थूल शरीर विराट ब्रह्मांड उस प्रथम शरीरत्वाद लोकानाम आदि लोकों के आदि उसके बाद अन्य प्रजा की उत्पत्ति हुई अग्निम तम प्रकृतम अग्नि जो अग्नि है जिसको नचिकेता ने पूछा था उन कहा नचिकेता था प्रार्थितम नचिकेता ने जो पूछा था प्रार्थना की थी उसको उपदेश किया वाच यमराज ने कह दिया उक्तवान मृत्यु तस्मै का तो नचिकेत से नचिकेता होगा किंच या इष्ट का यथावा यावतिर्वा यथावा या इष्ट का चेतव्य स्वरूपेण स्वरूपेण जो रखना है द्रोण रथ चक्र आदि सर्पेण उपदातव्य रखने के लिए इसे कहा गया सर्पेण इष्ट का जो कहा दिया और यावत्रिवा संख्या या जितने संख्या के रखना है यथा वा चियते अग्नि यथा येन प्रकाण येन प्रकाण अग्नि का चयन इष्ट का चयन ईट रखते हैं ईट किस प्रकार बनाना कैसे रखना अलग-अलग ईट साइज उसके प्रकार अलग रखने का ढंग लगे ये सब बता दिया सर्वमेतद उक्तवान इत्यर्थ सब कुछ यवनाजन उसको नचिकेता को उपदेश कर दिया सचापि नचिकेता तन्मृत्युनोक्तम यथावत प्रत्येन अवदत प्रत्युचारितवान नचिकेता भी मृत्युनोक्तम मृत्यु यमराज ने जैसे उपदेश किया यथावत ठीक ठीक ऐसे प्रत्येन ऐसे जान करके अवदत प्रत्युच ऐसे प्रत्युचारण कर दिया समझ करके पूरा समझ करके निश्चय करके बता दिया नहीं कि रट करके खाली सुना दिया समझ करके बता दिया प्रत्युचारितवान अथा से प्रत्युच्चारणे न तुष्ट सन मृत्यु पुनरेवाह वरत्र व्यतिरेकण अन्यम वरम दित्सु जब यह नचिकेता ने प्रत्युच्चारण ठीक समझ करके कह दिया तो उपदेश सार्थक तभी होता है शिष्य यदि ग्रहण करता है तो इसलिए जब ग्रहण करता है तो प्रसन्न हो गया प्रत्युच्चारण तुष्ट सन संतुष्ट होकर के मृत्यु फिर कहा किसले वरत्र व्यतिरेकण अन्य वरम दिशु तीनों वर्ष अतिरिक्त अन्य वर लेकिन देने की इच्छा से खुश होकर कहा क्या कहा कथम तम ब्रवीत प्रिय मानो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूय तवेव नामना भवितायम अग्ने श्रृंकां चेमाम अनेक रूपां तम अब्रवीत तम नचिकेतसम अब्रवीत प्रियमान महात्मा महान आत्मा ऐसे स महात्मा आत्मा अंतकण क्षुद्र बुद्धि नहीं अक्षुद्र बुद्धि महान बुद्धि बहुत उदार आत्मा महात्मा है प्रसन्न हो गए कुछ शिष्य यदि समझ लेता है अधिक तो गुरु खुश होते हैं कुछ जो क्षुद्र बुद्धि वाले होते हैं वो सोचते हैं क्या हमसे आगे बढ़ जाएगा इसे सब उपदेश नहीं करेंगे अथवा जो हम नहीं पढ़े या कोई पढ़ेगा तो को मना करना रे उसको नहीं पढ़ो उसे पढ़ने से दिमाग खराब हो जाएगा डांटेंगे क्योंकि पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा उद्देश्य ये है या कुछ पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे इसे मना करेगा पढ़ने से क्या होगा कुछ हम जो बताते करो तो शिष्य तो श्रद्धा से मान लेगा ऐसे करते हैं बड़े-बड़े सब कुछ है उनको कोई कमती नहीं है सम्मान में कमती नहीं कुछ नहीं फिर भी कोई शिष्य थोड़ा कुछ पढ़ ले जो अपने नहीं पढ़ा ऐसे तो ग्रंथ बहुत है विद्या बहुत है ब्रह्म विद्या एक हो जाने से और संतोष कोई परवाह नहीं कोई आगे पढ़ ले तो कहाँ बढ़ जाएगा आगे ब्रह्म ज्ञान से आगे कौन बढ़ जाएगा जितने पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं उसको कोई परवाह नहीं पढ़े खुश होकर कहीं पढ़ो और पढ़ो और जो ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से अपने खाली देखा करके रूप बनाने से कोई ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा रूप बना करके साइज बना करके अपने सामने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान दिखाने से नहीं होता है तो कोई यदि आगे बढ़ जाता है उसको मना कर देंगे ऐसे नहीं ये इसलिए कहा अक्षुद्र बुद्धि ठीक ठीक से उत्तर दिया तो प्रसन्न हो गए कहीं कहीं से होता है कोई यदि ठीक पढ़ लेता है उनको लगता है तो बड़ा अच्छा पढ़ लेता है ये तो आगे बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे कुछ लोग अज्ञानी कोई पंडित में होते हैं कुछ साधु में ऐसे होते हैं फिर उनको नहीं बताएंगे उधर उधर करके पाठ बंद कर देंगे अपने कोई खास हो तो उसको बताएंगे पंडित में कुछ है कोई अपने भाई भतीजा है तो उसको बताएंगे महात्मा लोग को नहीं बताएंगे ये आगे बढ़ जाएंगे कि पहले वाराणसी में पंडितों की तरफ और साधु की तरफ से प्रतियोगिता अपने आपस में विद्वान बड़े-बड़े विद्वान साधु भी होते थे पंडित भी विद्वान होते थे तो पंडित लोग देखते अरे ये साधु लोग बड़े विद्वान हो गए हमको हरा देते हैं उनको सहन नहीं होता ऐसे साधु को पढ़ाते समय कुछ कुछ बताएंगे नहीं ऐसे था परंपरा मैंने भी देखा है देखा है कुछ पंडित बोले हाँ, हम कुछ बताएं कुछ छिपाएंगे <laughs> सीधा ही बोल देते हैं आप लोग तो सेवा नहीं करेंगे कुछ बताएं कुछ छिपाएंगे कोई महात्मा ने भी कहा मेरा आप लोग सेवा नहीं करें इसे हम कुछ बताएं कुछ छिपाएंगे तो हम का आश्चर्य लगा कि पढ़ाने वाले कहते कुछ छिपाएंगे हम ऐसे परंपरा नहीं देख हम तो जहाँ कठिन स्थल विशेष स्थल वहाँ स्पष्ट करके बताते हैं जिनसे पढ़े वो भी ऐसे नहीं वो खुश होते हैं कोई बता दिया ये कहते इतने बड़े महात्मा को तो कुछ बताएं कुछ छिपाएंगे इसे पता चलता है वो कहाँ है जो छिपाएंगे मतलब आगे बढ़ने नहीं देंगे ये करने का अभिप्राय क्या है वो स्वयं साधना काम अवस्था में है अभी कुछ नहीं जो तृप्त है परमात्मा प्राप्त ज्ञान हो जाता है उनको डर लेगा शिष्य आगे से बढ़ जाए करके आगे बढ़ बढ़ कर कहाँ जाएगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा और और आगे कहाँ है अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो हमसे आगे बढ़ जाएगा एक ब्रह्म ज्ञानी समझेगा दूसरे यदि ज्ञानी हो जाए तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा वो आगे वो है ही नहीं जितने ज्ञान के लिए उपदेश किया जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए तो शिष्य को उपदेश किया जाता है यदि थोड़े कोई न्याय पढ़ ले कोई व्याकरण पढ़ ले तो तुमको सहन नहीं होता है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो तुम कैसे सहन करोगे शिष्य को यदि थोड़े न्याय शास्त्र आ गया तर्क शास्त्र आ गया डरते हैं प्रश्न करे तो हम बता नहीं पाएंगे मना करते पढ़ने के लिए यदि थोड़े शास्त्र ज्ञान के लिए डर लगता है तो अंदर से आपकी भावना हो शिष्य हमको हमारे शिष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले नहीं प्राप्त करे जीवन भर हम जहां जाएंगे हमसे सुनो और बाकी पढ़ने के लिए कहीं आगे नहीं पढ़ना नियम है ब्रह्म सूत्र चार सूत्र से आगे नहीं पढ़ना आगे नियम चार सूत्र से अधिक नहीं पढ़ना और जब हम जहां जाएंगे हमारे पास अगर सुनते रहो और ज्ञान हो गया बता देंगे अधिक पढ़ने के लिए मना करेंगे तर्क भी नहीं पढ़ो कुछ नहीं करो जो ऐसी भावना है थोड़े शास्त्र ज्ञान से आगे बढ़ जाए करके अंदर से कभी भावना नहीं करेगा शिष्य को ब्रह्म ज्ञान हो तो अपने को ब्रह्म ज्ञान हो तो ऐसे कोई नहीं सोचेगा जैसे अपने नहीं तो सोचेगा कहीं उपदेश कहीं हमको नहीं हुआ तो इनको हो जाएगा तो इसलिए वो डरेंगे ऐसे भावना यदि आचार्य को शिष्य को विद्या की प्राप्ति कैसे होगी ऐसे नहीं इसलिए यहाँ का महात्मा प्रियमान महात्मा महात्मा प्रसन्न हो गए शिष्य जो इससे उत्तर दे दिया ये महात्मा का लक्षण है कोई आगे बढ़ जाता है तो बहुत खुश होते हैं हमने देखा है महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे कोई पढ़ लिया कुछ पढ़ लिया बहुत प्रसन्न होते थे वरम तेवा हद तवे हाद्य दतामी हुए तब य अद्य तुम के आज ये वर पूरी दे रहा हूं तीन सत्रित तवेव नामना भवितायम अग्नि ये जो अग्नि के उपदेश में क्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी अग्नि विद्या सब कहेंगे नाचिकेता अग्नि कहेंगे श्रृंकांच इमाम अनेक रूपाम गृहाण श्रृंका है गति अर्थ को लेकर के ये कर्म मार्ग कर्म के अन्य कुछ कर्म स्वर्ग प्रति अन्य कुछ साधन अथवा श्रृंका का तो माला शब्द करने वाली अपने गले में माला निकाल के उनको दे दिया अनेक रूपम अनेक रत्नादि जिसमें खचित से माला इसको लो बड़े खुश होकर दे दिया तम नचिकेत सम अब्रवीत प्रियमान नसिकता से कहा यमराज ने शिष्य योग्यताम पश्यन प्रियमाणम शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हो गए प्रियमान प्रीतिम अनुभवन महाप्रीत होते हुए अनुभव बड़े खुश हो गए शिष्य योग्यता देखकर के महात्मा का तो अक्षद्र बुद्धि पांच नंबर टिप्पणी दिया प्रियमानते हेतु हेतु महात्म्य थी प्रीत होने में कारण क्या है क्योंकि महात्मा है उसका अर्थ अक्षुद्र बुद्धि हेतु रीति हेत्वंतरम हाँ वो जो प्रियमान हेतुर महात्मेति तजवाचस्य अक्षुद्र बुद्धि रीति हेतु प्रियमान हेतुर महात्मा हेतु का हेत्वंतरम शिष्य योग्यता दर्शनस्य हेतुत्वाद शिष्य योग्यता देकर करके हेतु है और दूसरा है अक्षुद्र बुद्धि दो है शिष्य योग्यता को देख करके प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने का दूसरा कारण है अक्षुद्र बुद्धि दो हो गया हेतु अंतर तो हेतु दूसरा हेतु हो गया अक्षुद्र बुद्धि क्षुद्र बुद्धि ही परक्यम प्रज्ञादि उत्कर्षम पश्यन ईर्ष्या कलुषी भवति जो क्षुद्र बुद्धि वाला है दूसरे यदि अधिक बुद्धि प्रज्ञा आदि उत्कर्ष देखते हुए ईर्ष्या होगी ईर्ष्या से कलुषीभूत हो जाता है प्रसन्न नहीं होगा दुखी हो जाएगा अरे इसको आ गया अक्षुद्रधिस्तु प्रियतेव जो क्षुद्र बुद्धि वाला उसको प्रीति नहीं होगी दूसरे के आगे बढ़ गया तो जो अक्षुद्र बुद्धि उदार है प्रसन्न हो जाता है क्षुद्र स्याद अधम क्रूर कृपणा वाच्य ये कोष में दिया क्षुद्र का तो अधम क्रूर क्षुद्र बुद्धि मतलब अधम क्षुद्र बुद्धि उसको क्षुद्र कहते क्रूर कृपण अक्षुद्र बुद्धि होने से प्रसन्न हो गए वरम तब चतुर्थम यह यह कहते प्रीति निमित्तम वरम तवे यहा तव य यह मतलब अत्र अस्मिन् विषय यह का प्रीति निमित्तम निमित्त अर्थ में सप्तमी प्रीति के कारण अद्य इदानीं ददामि भूय पुनः प्रयसामि प्रीति के कारण अधिक और फिर एक वर देता हूं लो वर क्या है तवेव नचिकेतस नामना भवितायम अग्नि तव नाम से तुम्हारे नचिकेत नाम से नामना का तो विधान है ना अभिध्यते तो अभिधान वाचक शब्द इसी नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी अग्नि विद्या प्रसिद्ध भविता मय उच्च मानो अयम अग्नि ये अग्नि में जो कह रहा हूँ ये तुम्हारे नाम पर प्रसिद्ध हो जाएगा अग्नि शब्द पुल्लिंग है हिंदी में स्त्रीलिंग करते हैं भविता प्रसिद्ध हो जाएगा अग्नि विद्या प्रसिद्ध हो जाएगी और एक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध दूसरा किंच श्रृंकाम शब्दवतीम रत्नमयी माला इमाम अनेक रूपा विचित्रम गृहान गुरु श्रृंका का अर्थ माला शब्द करने वाली शब्द करने वाली रत्नमयी माला है अनेक रूपाम विचित्र रत्नमयी माला को ग्रहण करो ये श्रृंका श्री शब्दार्थ को लेकर के श्रृंका एक हो गया शब्द को लेकर का श्रृंगा श्रीजी विसर्ग धातु है शब्दार्थक तो प्रसिद्ध को लेकर के शब्दवती का और दूसरा अर्थ करते हैं गत्यर्थ को लेकर के श्रृंगाम का अकुत्सिताम यदवा श्रृंगाम अकुत्सिताम गतिम ये गति मार्ग प्राप्त करने के कर्म में ज्ञान जिस प्रकार ये अग्नि विद्या है आदि अर्चिरा आदि के द्वारा प्राप्त होता है फल तो इसी प्रकार कर्म मार्ग आगे कर्म फल प्राप्ति का निमित्त और कुछ कर्म का उपदेश किया अकुशेताम गतिम कर्ममय कर्म से प्राप्त होने वाले मार्ग का साधन और भी ग्रहण करो उसका अभिप्राय अन्यदपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वा स्वीकृत अर्थ एक कहने का जो ग्रहण कर लिया तो कर्म विज्ञान अग्नि ज्ञान जैसे उपदेश किया अन्य भी कर्म विज्ञान उपदेश कर दिया अनेक फल हेतु होने से इसको भी ले लो ये भी ले लो ऐसे भी समझ लो ऐसे होते हैं जो प्रसन्न होकर कुछ ऊपर पढ़ाते हैं पढ़ लिया तो कहेंगे इसको भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो मैं तुमको पढ़ा दूंगा और भी पढ़ लो व्याकरण अच्छा आ गया तो कहे तर्क भी पढ़ लो तर्क आ गया तो कहे मीमांसा ही पढ़ लो फिर वेदांत पढ़ लो तो इसे पढ़ने में प्रसन्न होकर के उपदेश करते हैं तो ये कर्म ये तो अग्नि विद्या और कर्म विज्ञान अनेक इसे भी ग्रहण करो तो श्रृंखला का दो अर्थ किया एक सृज विसर्ग के शब्दार्थ को लेकर के शब्द करने वाले माला शब्दवती रत्नमय माला और दूसरा श्रृंखला का अर्थ यहाँ गति अर्थ लेकर के श्री सकी गतो धातु से श्रृंखला बन जाएगा तो कर्ममय गति को ग्रहण करो कर्म प्राप्त कर्म विज्ञान अनेक फल साधन स्वीकार करो पुनरपि कर्म स्तुति में वह फिर कर्म की स्तुति करते हैं ये यमराज त्रिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति त्रिनाचिकेतः तीन बार जो नचेत अग्नि का चयन क्या त त्रिविरत्य संधि तीन से संधान मिलन प्राप्त करके तीन का व्याख्यान करेंगे अध्ययन अनुष्ठान श्रवण विज्ञान पहले विज्ञान ज्ञान अध्ययन अनुष्ठान अथवा माता पिता आचार्य से जो उपदेश प्राप्त करता है अनुशासन प्राप्त करता है वो यथार्थ प्रामाणिक होता है त्रिकर्म कृत त्रिकर्म वह त्रिवीर संधि में वेद स्मृति शिष्ट ही ले लिया शुद्ध होने पर त्रिकर्म कृत इज्जा अध्ययन दान आदि करने वाला याग अध्ययन दान करने वाला त्रिकर्म कृत तीन कर्म करने वाले तरति जन्म मृत्यु जन्म जन्म च मृत्यु च जन्म मृत्यु तरति जन्म मृत्यु का अतिक्रम कर लेता है जन्म मृत्यु सहित हो जाता है ब्रह्मज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा ब्रह्मण जात ब्रह्मजम च ज्ञश्च ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ है ऐसे अग्नि है ब्रह्मज्ञ उनको देवम ईड्य जो स्तुत्य है उनको जान करके उपासना करके निचाय ज्ञात्वा उपासना करके इमाम शांति अत्यंत मेति ये इमाम शांति इदम शब्द से कहती है जो शांति प्रत्यक्ष दिखाते हैं अपने बुद्धि में प्रत्यक्ष वो शांत है इमाम शांति मत्यंत मेति ये शांति को अत्यंत शांति को प्राप्त करता है त्रिनाचिकेतस त्रिहि कृत्वो नचिक नाचिकेत्व अग्निश्चितो येन सत्रिनाचिकेतस त्रिहि कृत कहते तीन बार नाचिकेत्व अग्निचयन जिसने किया जान करके उपासना करके सत्रिनाचिकेतस तद विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठान वा तीन उसका ज्ञान उसका अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला किनाज के तो त्रिभिरत्य संधि त्रिवी का तो मातृ ही एत्य प्राप्य संधि तीनों से माता पिता आचार्य पहले माता गुरु उसके बाद पिता उसके बाद आचार्य तीनों से संधि का तो संधानम संबंधम मात्रादि अनुशासनम माता का पिता का आचार्य का अनुसंधान अनुशासन जो पालन करता है सफल होता है यथावत प्राप्य प्राप्त करके तद्धि प्रामाण्य कारणम श्रुत्यंतराद अवगम्यते तद अनुशासनम एकाद प्रसिद्ध है प्रामाण्य का कारण माता पिता आचार्य यथा मातृमान पितृमान इत्यादि श्रुति ने कहा ऐसे मातृमान पितृमान कहता है तुमने जो कहा ठीक कहा है माता पिता जिसका आसन अनुशासन करने वाले गुरु है और प्रमाण यथार्थ मार्ग में चलेगा त्रिभिरत्य संधि माता पिता आचार्य से अनुशासन प्राप्त करके अर्थात त्रिभिरत्य संधि का दूसरा अर्थ करते हैं वेद स्मृति शिष्टेरिवा वेद है श्रुति स्मृति और शिष्ट महापुरुष इनसे भी अनुशासन प्राप्त करके इनके अनुसार श्रुति स्मृति और महाशिष्ट पुरुष सदाचार श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एत चतुष्टयम प्राहु साक्षात् धर्म से लक्षण श्रुति स्मृति और शिष्ट सदाचार वेद स्मृति शिष्ट से भी अनुशासन प्राप्त करे अथवा त्रिविकात प्रत्यक्ष अनुमान आगमेवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम आगम अनुमान प्रत्यक्ष वेदांत ज्ञान भी पहले आगम प्रमाण है श्रवण से आगम प्रमाण से ज्ञान श्रवण जन्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके बाद अनुमान से मनन करना है युक्त्या संभावितत्व अनुसंधान मननम युक्ति से कैसे संभव है प्रपंच कैसे मिथ्या है ब्रह्म कैसे अद्वितीय है जीव ब्रह्म एक कैसे युक्ति से मनन करना है ये अनुमान की उपयोगिता है पहले आगम से उसके बाद अनुमान उसके बाद निधि ध्यान करने से प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीनों प्रमाण से ज्ञात तो होता है तो निश्चय होता है तेभ्य विशुद्धि प्रत्यक्षा उससे शुद्धि होती है तो इसी प्रकार तिभिरत्य संधि जो तीनों से अनुशासन प्राप्त करता है तीन बार नचिकेत अग्नि सहन करता है और त्रिकर्म कृत इज्याधिरदान जन्म मृत्यु को पार कर लेता है त्रिकर्म कृत का अर्थ इज्या अध्ययन दानानाम करता इज्या अध्ययन दानम याग अध्ययन ज्ञान इच्छा ज्योतिषमादि याग अध्ययन वेद का अध्ययन और दान दान भी बहिर्वेदीय दान कर्म के अंग दान अलग है कर्मांग नहीं ऐसे जो दान है ये ज्ञान प्राप्ति का साधन दान भी है इज्याधन दान नाम करता तरति जन्म मृत्यु तरति तो अतिक्रामति जन्म मृत्यु को पार कर लेता है देवताओं के उद्देश्य द्रव्यता का याग वेद अध्ययन और दान शास्त्र का अध्ययन श्रवण भी एक साधन है शास्त्र का अध्ययन श्रवण चिंतन अध्ययन श्रवण उसके बाद चिंतन मनन ये भी साधन है याग दान और अध्ययन त्रिकर्म करता तरति कर अतिक्रम करता है जन्म मृत्यु को अर्थात जन्म मृत्यु रहित हो जाता है मुक्त हो जाता है वो ज्ञान परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके तो मुक्त होता है ये कर्म फल इच्छा से करता है तो स्वर्ग जाता है दीर्घ काल स्वर्ग में रहने से जन्म मृत्यु रहित होता है दीर्घ काल आत्यंतिक नहीं आत्यंतिक तो अतिक्रम होगा ज्ञान से किंच ब्रह्म यज्ञ ब्राह्मणो जातः ब्रह्मज यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म हिरण्य हिरण्यगर्भ उससे उत्पन्न होता है विराट क्योंकि पंचीकरण होने पर स्थूल शरीर बनेगा स्थूल शरीर अभिमान विराट है पहले पंचीकृत भूत से सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमान गर्भ जो कारण उपाधि का ईश्वर जब सृष्टि करता है ईश्वर सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति होती है सूक्ष्म भूत उत्पत्ति होने पर सूक्ष्म भूत से अपंचीकृत भूत से ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र प्राण की उत्पत्ति होती है तो समष्टि रूप से अंतकरण प्राण उपहित है समष्टि सूक्ष्म तर उपहित होने पर चेतन का नाम हिरण्यगर्भ हो गया जिसका नाम माया उपाधि को कर ईश्वर हुआ था शुद्ध चेतन है माया को उपाधि रूप से स्वीकार करने से ईश्वर नाम से प्रसिद्ध शास्त्र में वही जगत सृष्टि करता है पहले अपंचीकृत बना बनाता है अपंजीकृत से सूक्ष्म सर बन जाता है तो समस्त सूक्ष्म सर अभिमानी को हिरण्यगर्भ कहते हैं वो भी ब्रह्म है समष्टि प्राण अभिमानी समष्टि बुद्धि अभिमानी से कहा जाता है दो शक्ति अंतगण में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति समष्टि प्राण को लेकर क्रिया शक्ति लेकर के भी तद अभिमानी अर्थात बुद्धि समष्टि को लेकर हिरण्य गर्भ होता है समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी हिरण्य गर्भ से उत्पन्न होता है विराट हिरण्य गर्भा जात ब्राह्मण ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ हुआ हिरण्य गर्भ ब्राह्मण ज ब्रह्मणा ब्रह्मण जात ब्रह्मज ब्रह्मजश्च सो इति ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज है हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ अज्ञ जानाति दिज्ञ सर्वज्ञ है विराट अग्नि ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ असो तम देवम देवं द्योतना देवम देव क्रीड़ा विजिगसा व्यवहार द्युति द्युति दीप्तो दीप्तमान प्रकाशमान देव है द्योतना देव हुआ ज्ञानादि गुणवंतम द्योतनादि ज्ञानादि गुण वाले ज्ञानादि गुण वाला होने से हेतु गर्भ विशेषण टिप्पणी दिया ज्ञानादि गुण वाला होने से इड्यम इड्यम का स्तुत्यम ईड स्तुत्य धातु इड्यम स्तुत्यम विदित्वा विदित्वा गृहीत्वा शास्त्र तो निश्चय शास्त्र से ग्रहण करना श्रवण के द्वारा उसके बाद निचाय निचागत दृष्टवा दर्शन कैसे होगा आत्मभावेन यहाँ दर्शन आत्मभावेन अहम अस्मिति आत्म रूप से दर्शन पहले दत्येभ्यो विशुद्धि प्रत्यक्षा माता पिता आचार्य वेद स्मृति शिष्ट अथवा प्रत्यक्षानुमान आगम इनसे शुद्धि होती है टीका में दे विशुद्धि इति धर्मादि अवगति धर्म धर्म का ज्ञान धर्म क्या है मालूम होता है माता पिता आचार्य वेद श्रुति शिष्ट प्रत्यक्ष अनुमान आगम इनसे धर्म ब्रह्म का ज्ञान होता है दृष्टवा च आत्मभावेन अव्याय विराट की उपासना उसको आत्मभावेन दृष्टवा विंशति अधिकानि सप्तशतानि इष्टकानां संख्या संवत्सर से अहोरात्राणि च ताव संख्या कानि एवं संख्या सामान्यात तेरिष्ट का स्थानीयम स्थानीयम स्थानीय स्थानीय चितो अग्निरहम इति आत्मभावन ध्यात्वे इति सप्तशतानि अष्टकानां इष्टकानां संख्या विंशति अधिकानि सात सौ बीस बीस सप्त सात सौ बीस सात सौ बीस इष्ट का नाम संख्या ईट की संख्या संवत्सर से अहोरात्राणि से ताव संख्या नहीं दिन रात मिल करके साठ दिन है रात कितने हैं मिल करके हाँ, अहोरात्राणि सब मिलकर तीन सात सौ बीस हो गया ईट इत, इतने दिन रात मिल करके इतने हो ताव संख्या नेव संख्या सामान्यात संख्या समान होने से एक वर्ष में दिन रात मिलकर जितने इष्ट का इतने वो इष्ट का स्थानीय हो गए दिन रात तेर इष्ट का स्थानीय चित अग्नि इष्ट का स्थानीय दिन रात से चयन किया गया अग्नि सूर्य उदय अस्त उदय अस्त होकर के दिन रात होते होते इष्ट का स्थानीय अग्नि हो गया दिन रात इनसे अग्नि अहम इति भावना ध्यात्वा अहम मैं मैं हूँ ये अहंग्रह उपासना है जे विराट अग्नि सो अहम मैं हूँ ऐसा चिंतन आत्म भावेन ध्यात ध्यान करना है आत्मत्वेन अहम अस्मि एक ध्यान होता है भेद दृष्टि से ध्येय मेरे से भिन्न है मैं ध्याता हूँ ध्येय परमात्मा का चिंतन किसी प्रकार भी करे कितने चिंतन करता है कितने श्रद्धा कितने त्याग वैराग्य ये परमात्मा दिखते हैं किसी रूप से भी चिंतन करें परमात्मा अंतर्यामी जानते हैं बहुत आडंबर करे मन से कुछ नहीं तो परमात्मा पता चलेगा क्या ये मना करता है <laughs> पता नहीं चलेगा <laughs> परमात्मा को मालूम है अंदर क्या है बाहर क्या है बाहर बहुत आडंबर सजाएंगे अंदर श्रद्धा नहीं और किसी के पास बहुत श्रद्धा है बाहर कुछ नहीं बाहर कुछ नहीं भीतर मतलब सब कुछ होते हुए नहीं देते इसकी श्रद्धा नाम नहीं है जिसके पास नहीं है कुछ वो अपने को देखता मेरे पास नहीं सब लोग के कितने सब लेकर के आते सुंदर सुंदर माला कितने सामग्री मैं आता होता तो मेरे पास कुछ नहीं ऐसा अपने से ऐसी भावना है थोड़े से गंगा जल लेकर चढ़ा देता है शिव जी जानते इसकी श्रद्धा कितने है और कुछ नहीं खाली जल चढ़ा दिया कभी बेल पत्र चढ़ा दिया और कभी बेल फल के कहीं जंगल से लाके चढ़ा दिया और खुश है शिव जी परमात्मा प्रसन्न है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो देता श्रद्धा से देता भगवान ग्रहण करते आडंबर सामग्री बहुत हो श्रद्धा नहीं तो परमात्मा उसको जानते ग्रहण इतना इतने प्रसन्न नहीं होते हैं इसलिए ये कि उपासना भेद दृष्टि से उपासना है किसी दे करके और एक उपासना अहंग्र उपासना में अहम अस्मि मैं ही हूं ऐसे चिंतन करना समष्टि हिरण्यगर्भ प्राण समष्टि प्राण उपासना भी है विराट अग्नि के उपासना भी है इसलिए है भावन ध्यात्वा आत्म तो तोतन ध्यान ध्याय दे चिंतायाम चिंतन कोई शत्रु से चिंतन करता है तो परमात्मा खुश होकर उसको स्वर्ग भेज देते हैं शत्रु से चिंतन करता है पिता रूप से पुत्र रूप से किसी प्रकार कोई चिंतन करता है शत्रु रूप से चिंतन करे तो भी परमात्मा को से कितने शत्रु रावण कंस आदि से कितने डरते अभी आने वाला अभी आगे आने वाला हमको विष्णु भगवान देव के गर्भ आने के पहले भी चेता अभी आने वाले विष्णु भगवान उसको मालूम है विष्णु भगवान आएंगे तो मारेंगे तो बस जहां देखते कहीं ये आगे क्या ये आगे क्या विष्णु विष्णु भगवान आने वाले आने वाले जैसे कोई लोग खड़े हैं कोई राजा मंत्री आने वाले तो कोई गाड़ी है तो है आ रहे आगे आगे सब खड़े करें माला लेके तैयार देखेंगे कोई दूसरी गाड़ी है फिर कहीं कोई आ गया अरे अभी आगे सब तैयार हो जाएंगे थोड़े कुछ दिखेंगे आगे आगे इसी प्रकार जहाँ कोई शब्द हुआ जो डरने वाला कोई थोड़ा शब्द हुआ चूहा भी आने पर डर गया भूत आ गया इसी प्रकार कोई कुछ देखते है कौन सा देखता है कि भगवान आ गए भगवान आ जाएंगे अभी आ गए गर्भ में देखते उसको नीचे हो गया अरे ये तो अभी भगवान आ गए क्योंकि क्योंकि इतने पहले ऐसे ज्योति प्रकाश में दिखती है पहले ऐसे नहीं दिखती भागवत में आया देवी को देखकर कंस को मालूम हो गया अभी भगवान इसी के गर्भ में आ गए क्योंकि इसका शरीर रूप कुछ विलक्षण हो गया जिसके गर्भ में भगवान रह जाए उसका ज्योति प्रकाश क्या रूप हो सकता है तो देखकर उसको लगा ये कुछ विशेष अब बड़े भक्त भी है वो सामान्य नहीं है कंस भी भगवान का बड़ा भक्त है तो भगवान जब आ गए तो उनको तो देखते ही लगा अभी आ गए वो भक्त जैसे बिल्कुल बैठते उठते खाते पीते हमेशा भगवान का चिंतन करता है भक्त नहीं और कोई बड़े रूप से बड़े सामग्री के चिंतन करता है थोड़े 5-10 मिनट चिंतन कर लिया और दिन भर बाहर प्रपंच में लगा वो क्या भक्त है रूप से हो कितने चिंतन करता है इसी प्रकार कितने ध्यान करता है इसी प्रकार भेद दृष्टि से हो अभेद दृष्टि से हो अभेद उपासना श्रेष्ठ है यदि कर पाए नहीं कर पाते तो भेद से करो जो अभेद चिंतन कर सकता हम अस्मि निरंतर कितने चिंतन करता है ये देखना चाहिए स्वयं देखें मैं कितने चिंतन करता हूँ अभेद भावना कितने करता हूँ ये नहीं कि दूसरे को सुनाने के लिए मैं हूँ और कोई कोई रटते सोहम सोहम सोहम रटते ये रटने से नहीं होता है चिंतन कैसे होता है चिंतन करने के लिए ध्यान अहंग्र उपासना करते समय थोड़ा थोड़ा समझ ले तो अहंग्र उपासना भी ठीक होती है नहीं तो ठीक ठीक से अहंग्र उपासना नहीं होती है शब्द से कहेगा अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म और अहम देह परिचिन ब्रह्म के उधर तो चिंतन भी नहीं हो सकता है अहम ब्रह्म को इसको कहे बोलो मैं राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति हूँ प्रधानमंत्री हूं बोलता रहेगा फिर बाद में सोचे ये क्या मिल गया सुरट करके मंत्री कहाँ प्रधानमंत्री पता नहीं मैं कहाँ ये रटेगा क्यों इसी प्रकार यदि नहीं समझा तो चिंतन भी नहीं हो पाता इसलिए बहुत लोग अहंग उपासना कर नहीं पाते हैं कर नहीं पाएंगे होता है होती है ना अहंग उपासना उनकी वो सुनकर आश्चर्य होती अहंग उपासना क्या है तो इसलिए यहाँ कहा गया यहाँ अहंग उपासना है यही ऐसे चिंतन करना अग्नि अहम इति आत्म भावेन ध्यात्वा आत्म रूप से ध्यान करना अहमस्मि विदित्वा गृहीत्वा शास्त्र तो नीचा दृष्ट्वा च आत्मभावेन ऐसे आत्मभावेन दृष्ट्वा का तो ज्ञात्वा यहाँ ज्ञान ध्यान करके फिर ध्यान करते करते साक्षात्कार हो जाएगा इमाम शांतिम इमाम का दीदम शब्द है प्रत्यक्ष में स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम बुद्धि अपने बुद्धि में प्रत्यक्ष है शांति स्वयं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम तो स्वयं प्रत्यक्ष अभी महाराज कहते हैं इमाम शांतिम अत्यंत मेति अत्यंत का तो उपरति शांति का तो उपरतिम अत्यंत का तो अतिशयेन एति अत्यंत मेति अतिशयेन शांति का तो उपरतिम अत्यंत मेति का तो अतिशयेन एति एक अतिशयेन एक यह अधिक तो काट देना अतिशयन प्राप्त करता है अत्यंत जिससे फिर पुनरावृत्ति नहीं वह निरंतर अत्यंत शांति को प्राप्त करता है वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुचयन सानन प्राप्त होती ज्ञान और कर्म के ज्ञान का तो उपासना अहंग्र उपासना में विराट हूँ समष्टि रूप हूँ यह उपासना और कर्म अग्निचयन कर्म उपासना ज्ञान कर्म का समुच्चय ज्ञान शब्द से उपासना अकर्ता निष्क्रिय ब्रह्मात्म ज्ञान से के साथ कर्म का किसी का समुच्चय नहीं हो सकता है अकर्ता ब्रह्मात्म ज्ञान स्वतंत्र है मोक्ष देने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं कर्म नहीं कर सकता है ज्ञान होने के बाद कर्म तो देह इंद्रिय मन में होता है अज्ञानी व्यर्थ आरोप करता आत्मा में जिसका आत्मज्ञान हो गया उसके देहादि के कर्म अकर्म हो जाता है अकर्म अभाव अथवा आभास हो जाता है तो जब ज्ञान नहीं तो ज्ञान कर्म ज्ञान का तो उपासना कर्म का समुच्चय समुच्चय अनुष्ठान करने से हिरण्यगर्भ विराट पद को प्राप्त करता है विराज इदमिति वैराजम पदम विराट पद को प्राप्त करता है स्वयं विराट रूप हो जाता है और प्राण समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ उपासना करते संवर्ग विद्या छांदोग्य में है वायु समष्टि प्राण संवर्ग अध्यात्म देह में प्राण है बाहर वायु है वो संवर्ग विद्या जो रेक ने उपदेश किया था उसकी उपासना करने से हिरण्यगर्भ प्राप्त हो जाता है उपासना अत्यंत दृढ़ हो तो हिरण्यगर्भ हो जाएगा नहीं तो तल्लोक प्राप्ति होती है ये उपासना का फल किंतु उपासना करते समय यदि अहंग्र उपासना करता है भेद दृष्टि से उपासना करता है कभी मंत्र जप आदि करता है किंतु फल ऐसा नहीं हो तो ये सब मानस कर्म है अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन कर्म भी हो उपासना हो उपासना भी एक कर्म है मानस कर्म ऐसे मानस कर्म उपासना जो मंत्र जप आदि करते समय फल इच्छा रहित तो होकर करे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है इसलिए ये उपासना भी आवश्यक है किंतु भेद बुद्धि से नहीं करे अभेद बुद्धि करता अच्छा है नहीं होता तो भेद बुद्धि से करे किंतु फल इच्छा रहित तो होकर करे तो ईश्वर की प्रसन्नता तो परमात्मा प्राप्ति का साधन ज्ञान प्राप्ति के द्वारा परंपरा से हो जाता है सब कर्म इसलिए यहाँ भी पहले कर्म का उपदेश किया कर्म उपासना उसके बाद ज्ञान का उपदेश करेंगे ये क्रम है इसी जन्म में हो किसी जन्म में हो कर्म उपासना करके अंतकोण शुद्ध होता है तब तो विवेक वैराग्य होता है जिज्ञासा होती है तब वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति होती तब ज्ञान प्राप्त होता है अंतकोण शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है इसकी आवश्यकता है ओम सहना